शायद फरमाया कि तकलील के साथ तकमील आसान है और तकसीर के साथ तकमील मुश्किल है मदारस में तलबा की तकसीर पर नज़र न हो बल्कि तकमील पर नज़र हो तालीम व तरबियत का कमाल ही सबब होगा तकसीर का किसी जगह की जब कोई चीज़ मशहूर हो जाती है तो लोग कतार लगा कर हासिल करते हैं हमारे यहाँ खीरी में जगह की किल्लत है जिसकी वजह से काफ़ी दरख्वास्तें नामंजूर करनी पड़ती हैं हरदोई में देखिए सालों लाइन लगना पड़ता है तब कहीं मंजूरी होती है